और वो लोग कहेंगे जिन्हें इल्म और ईमान अता किया गया था यकीनन तुम अल्लाह की किताब के मुताबिक जी उठने के दिन तक रहे हो तो यही है जी उठने का दिन लेकिन तुम इसे हक ना जानते थे